आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाइए जहां समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पूर्ण छीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा उसका फल यहां आकर भोगिएगा धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए धर्म मोक्ष रूप फल देने वाला है धर्म से ही अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है धर्म ही माता पिता और भ्राता है धर्म ही आपका रक्षक और सुहृद है स्वामी सखा पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है धर्म से अर्थ अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं धर्म से ही ऐश्वर्य एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है विप्रवरों धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है जो लोग कुत्सित दरिद्र कुरूप रोगी दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है ऐसा जानना चाहिए जो दीर्घायु शूरवीर पंडित भोग साधन से संपन्न धनवान निरोग तथा रूपवान हैं उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है ब्राह्मणों इस प्रकार धर्म पारायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों में नहीं देखते जो दैत्य और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं वे भी यमराज को नहीं देखते जो मन वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं उन पर यमराज का वश नहीं चलता वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं ब्राह्मणों जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को यमलोक के मार्ग को यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं तो वे नरक में नहीं पड़ते जो लोग सठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है वह भी चेदिराज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म्य मुनियों ने कहा भगवन आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं कृपया बताइए पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है व्यास जी बोले विप्रवरों प्राणी अकेला ही जन्म लेता अकेला ही मरता अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है माता पिता भ्राता गुरु पुत्र जाति वाले संबंधी तथा मित्र वर्ग इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते और दो घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं वे सब लोग तो त्याग देते हैं किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता वह अकेला ही जीव के साथ जाता है अतः धर्म ही सच्चा सहायक है इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरक में पड़ता है अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखें एकमात्र धर्म ही मनुष्य का सहायक बताया गया है बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है धर्म अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए मुनियों ने कहा भगवन आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है मनुष्य का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है व्यास जी बोले पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब त्वचा हड्डी मांस वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है मुनियों ने पूछा भगवान आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है व्यास जी ने कहा विजवरों शरीर में स्थित जो पृथ्वी वायु आकाश जल तेज और मन के अधिष्ठाता देवता हैं वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि पांच भूत तृप्त होते हैं तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है फिर स्त्री के रज से मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है वह धर्म के फल का आश्रय लेता है मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है यदि बीच-बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः तिर्यक योनि में जन्म लेता है मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ सुनो पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है फिर क्रमशः कुत्ता सियार गीध सांप कौवा और बगुला होता है जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह एक वर्ष तक नरकोकिल होता है मित्र गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है पाँच वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद दस वर्षों तक बगुला तीन महीने तक चींटी और एक मास तक कीट योनि में पड़ा रहता है इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः क्रीम योनि में उत्पन्न होता और 14 महीने तक जीवित रहता है इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है उस योनि में वह तेरह वर्षों तक जीवित रहता है फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है सौ वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है तत्पश्चात एक मास तक सर्प योनि में निवास करता है उसके बाद वह मनुष्य होता है जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है